नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो किल स्विच पर है किल स्विच जो कि सेना के हथियारों में जिस देश से हम हथियार खरीद सकते हैं वो देश रख सकता है और आ, रखेगा तो हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते कि उसने कहाँ रखा है फिर यदि हमें बहुत विश्वास है कि वो देश बहुत ईमानदार है हमारा हित चाहता है कभी किल स्विच नहीं रखेगा तो विश्वास तो आपको करना हो किसी पे भी कर सकते हो लेकिन रियलिस्टिक थॉट यह है कि अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन प्लेन बेचता है और प्लेन के किसी भी कोने में वो एक किल स्विच सर्किट रख सकता है और दुनिया में किसी के पास वो सर्किट ढूंढने की टेक्नोलॉजी नहीं है खुद अमेरिका के पास भी नहीं है मैं उसमें डिटेल में करूंगा तो वो किल स्विच क्यों नहीं रखेगा और किल स्विच रख दी तो क्या कर सकता है वो किल स्विच के जरिए कि किल स्विच को एक बार रेडियो सिग्नल मिले एक दो किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई व्हीकल हो वैन हो वो उसे रेडियो सिग्नल भेजे कि फ्यूज ऑफ तो वो सर्किट अपने आप को उड़ा देगी या तो सर्किट एक दो घंटे के लिए काम करनी बंद कर देगी और तब तक वो जो वेपन है प्लेन है या कोई भी वेपन है वो एक दो घंटे काम नहीं करेगा तो कभी के हमेशा के लिए काम नहीं करेगा तो किल स्विच के मैं ऑर्डिनरी एग्जांपल दूं कि जैसे आपके टीवी में रिमोट है तो वो तो आपको पता है आपने टीवी खरीदा आपको पता है ये रिमोट है पर अब मान लो वो टीवी मैंने आपको बना के दिया और उसमें एक और मैंने रिमोट रिसीवर रख दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस टीवी का रिमोट आपके पास है और उस टीवी का रिमोट मेरे पास भी है क्योंकि मैंने जो रिमोट रिसीवर रखा है वो आपको पता नहीं है कि मैंने रखा है तो आपके घर के बाहर से मैं भी वो टीवी ऑन ऑफ कर सकता हूं पर ऐसी छोटी चीज के लिए तो कोई करेगा नहीं पर करने के लिए मैं एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो ब्लैकबेरी का कि ब्लैकबेरी जो सबसे लेटेस्ट ब्लैकबेरी फोन आया है उसमें ये फैसिलिटी है कि मान लो मैंने फोन कहीं मिसप्लेस कर दिया या तो कोई चोरी करके ले गया या कहीं मैं भूल गया तो मैं ब्लैकबेरी के वेबसाइट पे जाके उस फोन को ऑफ कर सकता हूं वो कैसे टेक्नोलॉजी काम करेगी कि जो मान लो ये ब्लैकबेरी फ़ोन है और इसके साथ मैंने वोडाफोन लगाया है तो वोडा ब्लैकबेरी का वोडाफोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये फ़ोन जहां भी होगा उसके लोकेशन कौन से एरिया में है वो इन्फॉर्मेशन वोडाफोन ब्लैकबेरी को देगा ब्लैकबेरी अपने सर्वर पर डालेगा उससे मैं देख सकता हूँ फ़ोन को और यदि ब्लैकबेरी का सर्वर वोडाफोन को बोलता है कि भाई फ़ोन को ऑफ कर दो तो फ़ोन है वो एक मिनट बाद दो मिनट बाद बिल्कुल ऑफ हो जाएगा मतलब कॉल नहीं हो सकता वो ओ, ओ, जब मैं पावर ऑन करूँगा तो पावर ओ, और उसको मुझे कंप्लीटली ऑफ करना है तो फिर मैं दूसरा सिग्नल भेज सकता हूँ वो मतलब जो ब्लैकबेरी का ओनर है वो ब्लैकबेरी के वेबसाइट पे जाके कहेगा कि इस फोन को पूरा डेड कर दो तो उसके बाद है वो फोन ऑन भी नहीं हो सकता और उसका वजह क्या है कि ब्लैकबेरी में लोग काफी अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन रखते हैं तो जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन लगते हैं उनको फोन बीस तीस हजार का आता है वो चोरी हो गया उसकी कम चिंता होती है लेकिन उन्होंने जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन रखी है वो यदि किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है इसलिए वो इस तरह का अरेंजमेंट प्रेफर कर सकते हैं कि फोन को ऑफ कर दो कि वो ऑन भी ना हो सके तो इसके द्वारा मैंने कितने लोग किन किन को फोन किया था मैंने किन किन से बात की थी कितना टाइम बात किया था मेरे कॉल लिस्ट में कौन कौन आदमी है उनके फोन नंबर क्या है क्योंकि मान लो मेरे कॉल लिस्ट में कुछ आदमी है और उनके फोन नंबर उन्होंने मुझे फोन नंबर दिया लेकिन कहा कि सीक्रेट रखना तो इस तरह से वो जो ब्लैकबेरी है उसके अंदर सर्किट है कि वो अपने आप को एक स्पेसिफिक सिग्नल मिले तो वो अपने आप को ऑफ कर देगी तो ये तो ब्लैकबेरी ने डॉक्यूमेंटेड रखा है मतलब सबको बताया कि भाई इस तरह की सर्किट हमने रखी है पर मान लो उसने इस तरह की सर्किट रखी है और किसी को बताया नहीं है तो इसका मतलब कि ब्लैकबेरी है वो इस फोन को कभी भी ऑफ कर सकती है हमारे जान पहचाने के बिना अब जो बहुत सारे रेडियो रेडियो सिग्नल भेजने के तरीके होते हैं उनमें से एक मैं आपको कहूंगा ताकि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया आ जाए तो आप गूगल करना R F I D chip smallest size कि सबसे छोटा R F I D chip क्या होता है मुझे यदि किल स्विच बनानी है तो मैं RFID का इस्तेमाल नहीं करूंगा बहुत सारी और अच्छी चीजें हैं जिसके द्वारा मैं कर सकूं पर RFID टेक्नोलॉजी से आपको आइडिया आ जाएगा कि किल स्विच है radio radio wave enabled kill switch मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं तो RFID चिप में क्या होता है कि वो चिप है उसमें कोई बैटरी नहीं होती उसको बैटरी की जरूरत भी नहीं होती वो रेडियो सिग्नल रिसीव करती रहती है जो भी उसके आसपास आते हैं और जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का रेडियो सिग्नल उसको मिले बहुत ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का तब वो कुछ डेटा ट्रांसमिट करती है बस इतनी है उसकी फंक्शनैलिटी है उस सर्किट के अंदर एक 64 बिट आईडी होता है और जब उसको रेडियो सिग्नल मिलता है तो वो 64 आईडी ट्रांसमिट कर देती है और कितने दूर तक ट्रांसमिट कर पाएगी वो बहुत कम पर कम से कम वो रिसीव कर सकती है और मेन चीज किल स्विच में रिसीव होती है ट्रांसमिट नहीं है यदि कोई सर्किट रिसीव कर सकती है तो वो कर दे और कितनी दूर से वो रिसीव कर सकती है एक किलोमीटर दूर से भी कर सकती है यदि सेंडर पावरफुल है तो यदि सेंडर बहुत पावरफुल है तो वो एक किलोमीटर दूर से भी सिग्नल भेज सकता है और तो अब मुझे किल स्विच बनानी है तो मैं क्या करो तो सबसे छोटी साइज की डी चिप की साइज क्या है अब गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मिलीमीटर एक मिलीमीटर को आप 20 भाग में डिवाइड करो यानी 0.05 मिलीमीटर इनटू 0.05 मिलीमीटर ये सबसे छोटे RFID चिप का साइज है और ये तो कॉमर्शियली अवेलेबल है यानी हो सकता है मिलिट्री के पास इससे भी ज्यादा इससे भी छोटी चिप हो और ज्यादा फंक्शनलिटी वाली हो तो अब एक सेमीकंडक्टर चिप्स मान लो आपने सीपीयू या कोई भी चीज खरीदी और उसके अंदर इस तरह का RFID रख दिया गया है या तो और वो सर्किट की इतनी फंक्शनलिटी है कि जब एक स्पेसिफिक सिग्नल का रेडियो वेव आएगा तो वो अपने आप को उड़ा देगा तो वो चिप है वो काम करना बंद कर देगा और चिप काम करना बंद कर देगा वो पूरा इक्विपमेंट जो है प्लेन या जो भी है वो भी काम करना बंद कर देगा तो इसको हार्डवेयर ट्रोजन कहा जाता है तो आप गूगल करना दूसरा डॉक्यूमेंट तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे हार्डवेयर ट्रोजन और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस ये सारे भी गूगल कीवर्ड डालना ताकि आपको पता चले कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो किल स्विच के बारे में क्या सोचता है हार्डवेयर ट्रोजन के बारे में क्या सोचता है तो ये डॉक्यूमेंट जो हमने लिया है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ही एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उसने कहा है कि एक जो सेंटेंस है वो टेक्निकल है मैं पढ़ जाऊंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि trust can not be added to integrated circuits after fabrication Electrical testing and reverse engineering cannot be relied upon to detect undesired alteration in military integrated circuit. अब trust cannot be added. Trust cannot be added after fabrication. Fabrication का मतलब है उत्पादन. जो chips का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए technical word होता है fabrication. Integrated circuit यानी semiconductor chip जो आप कोई computer खोलोगे तो जो काले रंग की chip आपको दिखेगी वो. तो trust cannot be added यानी उसमें और विश्वास का हम addition नहीं कर सकते यानी कि एक बार कोई चिप आपने खरीद ली अब खरीदने के बाद आप उसकी कितनी भी टेस्टिंग करो दुनिया भर की यदि रैंडम एरर है तो वो चिप काम ही नहीं करेगी तो तो एक सेकंड में पता चल जाएगा कि ये चिप बेकार है फेंक दी पर यदि किसी ने उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइन के द्वारा उसमें कोई ट्रोजन डाला है कोई वायरस डाला है तो वो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी आपको बता नहीं पाएगी कि इसमें कहीं ट्रोजन या वायरस डाला हुआ है यानी trust can not be added after manufacturing यदि आपको 100 percent trustworthy reliable chip चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके एक एक इक्विपमेंट पे उसके एक एक आदमी पे क्योंकि ट्रोजन रखेगा तो कोई आदमी रखेगा उसके एक एक आदमी पे मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा कि उसने कहीं जानबूझ के गलत सर्किट तो नहीं बनाई तो trust can not be added after fabrication और दूसरा सेंटेंस है electrical testing and reverse engineering can not be relied upon यानी कि उस चिप को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करो कि उसको एक एक सेल उसका किस तरह से है तो उससे ये पता नहीं लग सकता कि उसमें ऑल्टरेशन किए हैं या नहीं मतलब पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है चलो पता लग भी गया कि ऑल्टरेशन <clears throat> है तो ऑल्टरेशन तो जेन्यून वजह से भी कभी-कभी हो जाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट में फ्लॉ है या तो सर्किट में रिग्ड है और वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इतने सारे चिप है एक प्लेन के अंदर कम से कम तीन चार हजार से तो ज्यादा कहीं ज्यादा सेमीकंडक्टर अलग-अलग सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते हैं इतने सारे पीसीबी होते हैं इतने सारे चिप रखते हैं <coughs> फिर जो ट्रोजन है वो पीसीबी के अंदर भी डाल सकते हैं कि पीसीबी के अंदर एक आरएफआईडी यानी 0.5 मिलीमीटर बाय 0.5 मिलीमीटर का सर्किट डाल दिया आरएफआईडी तरह का आरएफआईडी नहीं डालूंगा मैं कुछ और ही डालूंगा और वो पॉइंट ऐसा है कि जब उसको स्पेसिफिक सिग्नल का रेडियोवेव मिलेगा विथ पासवर्ड तो वो अपने आप को उड़ा देगा यानी वो पीसीबी है वो काम करना बंद कर देगा तो चिप काम नहीं करेगा लेकिन पीसीबी काम नहीं करेगा तो पीसीबी काम नहीं करेगा तो वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पूरा का पूरा बैठ जाएगा अब दूसरा जो यूएस डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट है वो है कि shift from shift from United States to foreign IC manufacturer endangers the security of classified information embedded in the chip design and जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है it opens possibility that Trojan horses and another other unauthorized design inclusion may appear in unclassified integrated circuits used in the military applications. यानी कि यूएस की जो मिलिट्री है उसने काफी सारा चिप बनाने का काम दूसरे देशों को दिया दूसरे देश यानी चाइना को नहीं दिया लेकिन ताइवान को दिया है जापान को दिया है और उससे भी उन्हें खतरा लग रहा है कि एक तो कि ये हमारे चिप की जो इनफॉरमेशन है वो पता चल जाएगी तो चिप की इनफॉरमेशन पता चल गई तो पूरे वेपन की आधी डिजाइन उनके हाथ में आ गई उससे ज्यादा उन्होंने लिखा है कि it opens the possibility that Trojan horses may appear in the unclassified integrated circuit यानी कि हम जो इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे वेपन में डालते हैं हम यानी ये अमेरिकन मिलिट्री uh, का डॉक्यूमेंट है तो उससे हम जो बाहर से चिप खरीदते हैं यदि उस चिप में कहीं ट्रोजन हॉर्सेस है तो हमारे वेपन में वो ट्रोजन आ जाएगा और उसके बाद काफी सारे चीजें हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें और आ, कि हम यूएस डिपार्टमेंट का है कि हम ज्यादा काफी सारी चिप्स है वो इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल और वो एक प्रोसेस उनके भी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई है कि मान लो उन्होंने लॉकेट को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो लॉकेट तो अमेरिकन कंपनी है पर लॉकेट के इंजीनियर ने चिप कहीं से इंपोर्ट कर ली उसने चिप का ऑर्डर प्लेस किया तो जो आदमी चिप सप्लाई कर रहा है एक पॉइंट के बाद उसको भी ठीक से पता तो होता ही है पर लॉकिड ने जो चिप खरीदी उसको पता नहीं है कि ये जो आईसी है वो चाइना में बनी या ताइवान में बनी या जापान में नहीं तो चाइना से तो वो सामान खरीदते नहीं है लेकिन जापान से खरीदी या ताइवान से खरीदी या ब्रिटेन से खरीदी या फ्रांस से खरीदी जो उनके ऑथोराइज कंट्री है वहां कहां से आई वो एक लेवल के बाद वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को के पास readily available नहीं है फिर उनको पूछना पड़ेगा लॉकिट को कि भाई ये तुमने इस पर्टिकुलर प्लेन में ये पर्टिकुलर पार्ट नंबर है इसमें चिप तुमने कहां से मंगाई तो वो अपने सप्लायर से पूछेंगे कि भाई ये चिप तुमने कहां से मंगाई थी तो वो बोलेगा कि ये चिप उसने ब्रिटेन से मंगाई थी यानी जो क्योंकि सप्लाई चेन में क्या था तो वो चिप नंबर होता है और वही चिप नंबर यदि अलग-अलग दे चिप नंबर मान लो फिलिप्स का है कंपनी फिलिप्स है तो फिलिप्स का चिप ना चिप नंबर देख के पता लग गया कि ये फिलिप्स की है पर अब फिलिप्स की फाउंड्री कहां पर है फिलिप्स की फाउंड्री जापान में भी हो सकती है जर्मनी में भी हो सकती है और तो अब फिलिप्स को तुम पूछोगे कि भाई ये पर्टिकुलर लॉट है वो तुमने कहां बनवाया था जापान में बनवा दिया जर्मनी में तो वो बताएगा उनके वो डॉक्यूमेंट्स तो रखते हैं सात आठ दस साल तक रखते हैं पर वो प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है उसका ट्रैक करना एक नॉन ट्रिवियल काम हो गया है पॉसिबल है पर नॉन ट्रिवियल है इसलिए अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट भी खुद वरीड है कि हम इस तरह से हम पांच सात देशों से सेमीकंडक्टर चिप्स मंगाते हैं तो हमारे चिप्स में ट्रोजन रखने की पॉसिबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है और डॉक्यूमेंट में उनका जो आखिरी एक कंक्लूजन ये है कि जो और नए जो कॉम्प्लिकेटेड चिप्स बन रहे हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर डीएसपी और एफपीजीए फील्ड प्रोग्रामेबल अरे वो प्रोग्रामेबल प्रोग्राम उसको उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत ऑल्टर कर सकता है यानी जो यदि कोई दूसरे तरह का तो जो चिप आई तो आई तो वो ठीक थी लेकिन वो प्रोग्रामेबल चिप है प्रोग्रामेबल चिप है यानी कोई सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर में या तो उस चिप को जब फाइनल डिप्लॉयमेंट होता है चिप का जब पीसीबी पे लगने से पहले आखिर में जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है वो जो प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट में वायरस आ गया तो चिप टेस्टिंग के टाइम तो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि चिप को अभी पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा और वो प्रोग्राम ऑल्टरेबल है तो इसके द्वारा भी आ, चिप एक बार इक्विपमेंट में जाने के बाद भी उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो सकती है अब इसमें आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे हार्डवेयर ट्रोजन के एक तो सीरिया रडार हार्डवेयर ट्रोजन इस पे आप गूगल करो तो सीरिया का रडार था वो शायद मेड इन रशिया था या मेड इन फ्रांस था और बहुत ही अप टू डेट मतलब state of the art radar था लेकिन जब इसराइल के प्लेन आए तो आधे घंटे तक उसने काम नहीं किया उस रडार ने इसराइल के प्लेन आके सब बम्बार्ड करके चौपट करके चले गए और उसके बाद रडार ने काम करना शुरू किया और उसमें यही बताया जाता है कि उसके अंदर ट्रोजन रखा था मैन्युफैक्चरर नहीं रखा था उसने उस ट्रोजन का कोड है वो इसराइल को एंड मोमेंट पे बेच दिया फिर एक और एग्जांपल आपको मिलेगा वो है ईरान का आप गूगल करना ईरान वायरस सेंट्रीफ्यूज तो जो जर्मन कंपनी ने ईरान को इक्विपमेंट बेचे थे सीमेंस ने बेचे थे और उसके अंदर उसने वायरस नहीं रखा था पर ऐसी अरेंजमेंट रखी थी कि वायरस आके उसकी फंक्शनैलिटी बदल सके और वो शायद गलती से भी रखी हो क्योंकि इसमें साफ साफ पता नहीं चलता कि सीमेंस ने जानबूझ के ऐसी डिजाइन रखी या गलती से रखी और बाद में सीआईए ने उस डिजाइन का पूरा डिटेल अरे सीमेंस ने उस डिजाइन का पूरा डिटेल सीआईए को दे दिया और सीआईए ने उसके आधार पे एक वायरस बनाया स्टटनिक्स की ऐसा कुछ नाम कहते हैं कि जो कि वायरस आ, आ, की फंक्शनलिटी ये थी कि वो पीसी पे जाता था देखता था कि ये सीमेंस का सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट है या नहीं यदि नहीं है तो कोई खराबी पैदा नहीं करता था वो सिर्फ अपने आप को दूसरे पीसी पे कॉपी कर देता था तो इस तरह से वो फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया और जब ईरान में वो सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट पे गया और वायरस ने देखा कि हाँ, हाँ ये इसी इक्विपमेंट को मुझे खराब करना है तो उसने उस इक्विपमेंट को खराब कर दिया इसका मतलब कि वो जो इक्विपमेंट सीमेंस का खरीदा वो ठीक था पर उसमें डोर रखा गया था कि किस तरह से उसको खराब किया जा सके और सीमेंस ने वो इन्फॉर्मेशन सीआई को दे दी और बाद में खराब हो गया फिर दूसरा आप गूगल करना जर्मनी विंडोज बैकडोर तो इसमें कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज दिए थे जर्मनी को उसमें उसने बैकडोर रखा था और वो बैकडोर के बारे में इन्फॉर्मेशन उसने सीआईए को दे दी और उसके द्वारा सीआईए ने जर्मन गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लिए और बाद में फिर उसके बाद जर्मनी जर्मन गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया कि वो विंडोज यूज ही नहीं करेगा अब वो पूरा एक यूनिक्स यूज करता है और वो यूनिक्स है वो जर्मनी में कंपाइल होता है मतलब वो लिनक्स को ले लेते हैं और उसमें लीगल है कि उसमें तुम थोड़ा पैसा देके या किसी तरह से कोड चेंज कर सकते हो प्रोपराइटरी कोड डाल सकते हो और वो कोड अब धीरे-धीरे सारे जर्मन डिपार्ट गवर्नमेंट में वो आ रहा है तो मेरे कहने का पॉइंट यह है कि यदि हार्डवेयर में कहीं ट्रोजन रखा है सॉफ्टवेयर में तो वायरस रखना बहुत ही आसान काम है पर वो डिटेक्ट भी हो सकता है पर हार्डवेयर में यदि किसी पीसीबी के कोने में या चिप के कोने में ट्रोजन रखा है तो अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती इसलिए डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये लॉ बनाया है इंटरनल कि 2015 के बाद जितनी भी वो चिप यूज करेगा अमेरिकन वेपन्स में वो सारी मेड इन अमरीका होगी पहली अमरीकन और जो प्राइवेट कंपनियां अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो कि चिप बना रही है वहां पे अमेरिका की मिलिट्री का सुपरविजन होगा और सुपरविजन किस तरह का कि उस मिलिट्री में कोई चपरासी आता है या फ्लोर साफ करने वाला आता है तो भी पहले डिफेंस डिपार्टमेंट उसका पर्सनल इवोल्यूशन करेगा कि यह आदमी इस फैसिलिटी में पांव रखने लायक है या नहीं कैसे कि वहां पे जो एम्प्लॉई होते हैं उनका पीरियोडिकली लाइट डिटेक्शन टेस्ट लेते हैं नार्को टेस्ट नहीं लेते पोलीग्राफ पोलीग्राफ लेते हैं जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है अमेरिका के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड है ये सीक्रेट सर्विस कहते हैं उनको उनमें हर एक जो बॉडीगार्ड है अमेरिका के प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का सेनेटर के उनको सीक्रेट सर्विस कहा जाता है तो उनका हर महीने पोलीग्राफ टेस्ट होता है और एट रैंडम भी कभी भी उनका पोलीग्राफ टेस्ट ले सकते हैं और इसी तरह का प्रोसीजर वो जो चिप बनाने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका भी लेंगे कि पता चले कि भाई ये कोई मैनिपुलेटेड आदमी नहीं है या तो खुद अपने आप भी कोई आदमी कर सकता है उसका दिमाग घूम गया या तो किसी पे गुस्सा निकालना है उसको तो वो कर सकता है या तो किसी बाहरी देश उसको पैसा दे रहा है पर नटशल कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका जो चिप बनाएगा वो 100% परसेंट मेड इन अमेरिका होगा अपने वेपन्स के लिए तो हमें भी इसी डायरेक्शन में अब सोचना चाहिए कि हम जो वेपन बड़े पैमाने पे इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस से जर्मनी से और जर्मनी से तो नहीं कर रहे फ्रांस से ब्रिटेन से और अमेरिका से तो जिस दिन वॉर होगा उस दिन वो हमको किल स्विच न दबाने का किल स्विच एक्टिवेट न करने का बड़ी भारी कीमत मांगेंगे और जिस दिन हमारा अमेरिका से या ब्रिटेन से युद्ध होगा तो उस दिन तो वो वेपन काम करने ही नहीं वाला वो किल स्विच एक्टिवेट ही कर देंगे उसके बाद मैंने दूसरे प्रॉब्लम बताया स्पैट पार्ट वगैरह के वो तो आएंगे ही आएंगे कि हमारे पास जो बफोर्स के तोपे थी तो स्वीडन ने जब युद्ध शुरू हुआ तो बफोर्स के तोप को गोले बेचने से मना कर दिया था क्योंकि अमेरिका का दबाव था कि बफोर्स के तोप के गोले मत बेचो तो फिर फाइनली ये इसराइल से लिए पर इसराइल ने भी बाद में कब दिए जब ये अमेरिका का टैसिट अप्रूवल आ गया वरना वो जो बफोर्स की तोप थी वो रद्दी की तरह पड़ी रहती गोले खत्म हो जाते उसके बाद तो जो स्पेयर पार्ट का प्रॉब्लम है वो तो है ही है कि हम जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट खरीदेंगे उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा पर स्पेयर पार्ट से ज्यादा जो किल स्विच है वो उस वेपन को ही नाकाम कर देगी अब किल स्विच रियल लाइफ में आज तक पकड़ी क्यों नहीं गई जैसे कि मैंने ये तीन चार एग्जांपल आपको दिए कि ईरान में सीआईए ने वायरस भेजा था फिर सीरिया के रडार का दिया तो ऐसा है कि एक तो ये किल स्विच बनाना बहुत आसान काम नहीं है बहुत ही मुश्किल काम है कि ऐसी किल स्विच जो कि पकड़ी ना जा सके दूसरा आदमी को मिलेगा क्या किल स्विच रखने से मैंने एक चिप बनाई मुझे पता नहीं है मैं यदि कोई ऑर्डिनरी चिप बनाने वाला हूं तो मुझे पता नहीं है मेरी चिप कौन खरीदने वाला है कहां जाने वाली है और मैं किसी थर्ड पार्टी का तो मुझे वो किल स्वीट डालने में मिलियन डॉलर का खर्चा होगा और किसी एक आदमी का मैं पीसी फूंक दू तो मुझे मिलेगा क्या इसलिए इसकी कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है देखो वायरस में क्या है कि वायरस बनाना सस्ता है वायरस बनाने में 10 मिलियन डॉलर का खर्चा नहीं लगता एक मिलियन डॉलर का खर्चा नहीं लगता वो आदमी बैठे बैठे बनाता और फिर वायरस अपने आप फैलता जाता है इसलिए वायरस हम देख सकते हैं जबकि हार्डवेयर ट्रोजन का लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बहुत बनाए हैं उसके और ऐसे ऐसे हार्डवेयर ट्रोजन बनाए कि हार्डवेयर ट्रोजन बनाए और दूसरे इंजीनियरों को बोला गया कि भाई तुम डिटेक्ट करो कि ये दस चिप है इनमें से बताओ कि कौन सी एक चिप में हार्डवेयर ट्रोजन है इंजीनियर डिटेक्ट नहीं कर पाए यहां तक कि जिस इंजीनियर ने स्पेसिफिकेशन बनाए थे वो चिप के उसी को दिया कि भाई ये दस चिप में से बताओ कि ट्रोजन किसमें और वो बता नहीं पाया कि किसमें ट्रोजन है तो इस तरह से लैब में तो हार्डवेयर ट्रोजन प्रूव हो चुके हैं आज तक फील्ड में कभी क्यों नहीं मिले क्योंकि ये बहुत ही महंगे हैं इसलिए कोई रखेगा तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन मतलब मान लो मुझे किसी बैंक का सर्वर उड़ाना है तो मिलेगा क्या मुझे बैंक का सर्वर उड़ाना से डेटा तो मिलने नहीं वाला क्यों क्योंकि बैंक है वो अपना जो डेटा है वो बहुत सारे सर्वर पे रिप्लीकेट करता है और एंड में पकड़ा जाएगा मान लो मैंने चेयरमैन के खाते में से किसी के बैंक के कस्टमर के खाते में से मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर किया तो एंड में तो पकड़ा जाएगा जब सारे ट्रांसफर एक के बाद एक ऑडिट होंगे तब और जो आदमी और इसमें एक आदमी का काम नहीं है फिर ये भी है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए जो कि इस तरह से ट्रोजन प्लांट कर रही है तो जो चोरी का केस होगा तो उसमें भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं कि मैं किसी में जाके बैंक से जाके 100 मिलियन डॉलर चुला रहा मैंने कहीं ट्रोजन रख के तो इसकी एप्लीकेशन सिर्फ मिलिट्री में है तो मिलिट्री में तो आपको रोज रोज तो एप्लीकेशन दिखेगी नहीं अमेरिका क्या रोज रोज ट्रोजन उसके पास किल स्विच है तो क्या वो रोज रोज किल स्विच अप्लाई करेगा ताकि वो पकड़ा जाए आप कॉमन सेंस से सोचो ये एक ईवीएम e मैनिपुलेशन का मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मैं मान लो कि आपने ईवीएम e के अंदर मैनिपुलेट हो सके ऐसी अरेंजमेंट रखी है तो क्या आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन में यूज करोगे नहीं करोगे तो तहसील पंचायत में जिला पंचायत में असेंबली में भी यूज नहीं करोगे पार्लियामेंट के टाइम यूज करोगे क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि यदि आप बार-बार यूज करोगे तो पकड़ा जाएगा और लोगों का भरोसा निकल जाएगा जो किल स्विच का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि दुश्मन को अंधेरे में रखो और वो अंधेरे में तभी रह सकता है यदि उसका बार-बार उपयोग ना हो तो आपको मैं समराइज करूंगा हार्डवेयर ट्रोजन सीरिया रडार इस पे आप गूगल करो फिर किल स्विच वेपन्स इस पे गूगल करो और आपको पता लग जाएगा और सॉल्यूशन क्या है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए और सारे वेपन्स लोकली बनाने चाहिए तो टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया ज्यूरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्यूरी सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिए फिर राइट टू रिकॉल जज right to recall police etcetera ताकि आदमी इतमान से काम कर सके आज मैं काम कर रहा हूं और मुझे पता नहीं कि किसी ने मेरा घर चुरा लिया मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके मेरा घर उसके नाम पे कर लिया या तो मेरी एक दूसरी वीडियो टेप है जिसमें मैंने बताया कि बॉम्बे में आजकल एफएसआई की चोरी हो रही है कि मेरे यहाँ पे प्लॉट पड़ा है उस प्लेट पे दीवार मेरी है ताला भी मेरा है लेकिन उस प्लॉट की एफएसआई चार है और एफएसआई दो कोई ले गया और मुझे पता भी नहीं कि अब मेरे प्लॉट की एफएसआई दो ये दो ही हो गए मैं तो रोज ताला देख के खुश होता हूँ कि भाई प्लॉट अभी भी मेरे हाथ में तो इस तरह से जो धोखाधड़ी पूरी होती है तो उसमें आदमी आराम से मन लगा के काम नहीं कर सकता और ये जो सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी वो 100 परसेंट फोकस मांग लेती है सारे लोगों की बस की बात भी नहीं है ऐसा नहीं है कि अमेरिका में 30 करोड़ में से एक एक आदमी प्रोडक्टिव है एक एक आदमी जीनियस ऐसा नहीं है पर जो 10-20 लाख लोग फोकस से काम कर रहे हैं वो फोकस से काम क्यों कर पाते हैं क्योंकि उनको रात को सोते हैं तो चैन की नींद सोते हैं कि उनकी जो जो एसेट है इंटेलेक्चुअल एसेट हो या तो उनके जो वर्चुअल एसेट हो वो कोई चुरा के नहीं ले जाएगा और उसके लिए एक रॉक सॉलिड कोर्स सिस्टम चाहिए पुलिस चाहिए वो आएगा उसके बाद ही इंजीनियर टेक्नीशियन है वो इतमान से काम कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और यदि ये सब नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा परिणाम यही होगा कि जो इराक का हुआ लीबिया का हुआ कि इराक के पास अपने हथियार नहीं थे उन्होंने रशिया से हथियार खरीदे थे एस एस वन और आप गूगल करना एस एस वन करके मिसाइल थे उनके पास रशिया ने स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए वैसे भी स्पेयर पार्ट भेजे होते तो भी ऐसा नहीं है कि इराक युद्ध जीत जाता पर कम से कम दो तीन महीना और खींच लिया होता लेकिन रशिया ने स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए तो उनके आधे एस एस वन मिसाइल खराब हो गए उसको वो यूज ही नहीं कर पाया तो इस तरह से आ, यदि हमने हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं सुधारी तो शायद हम चाइना के सामने युद्ध में टिक जाएंगे क्योंकि अमेरिका मदद करेगा लेकिन उसके बाद अमेरिका जब लूटने आएगा तब हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और फिर अमेरिका लूट लेगा उसके बाद वो जो जहां भी जाता है मैंने आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया कि वो ईसाई धर्म फैलाता है दूसरा वहां का मैथ साइंस का एजुकेशन खत्म कर देता है वहां की जो स्थानीय कृषि होती है वो खत्म कर देता है तो फिर कुछ भी बचेगा नहीं जो बचाने के लिए कर रहे हो इसलिए मैं सारे एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके मुद्दे हैं ये पानी का दाम कम करो बिजली का दाम करो वो मुद्दे ठीक है उसमें कोई गलत नहीं है पर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है weakening of Indian military Bangladeshi घुस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट ये इम्पोर्टेंट मुद्दे पे यदि एक भी मिनट फोकस नहीं दोगे तो फिर देश का हाल लीबिया या इराक जैसा हो सकता है धन्यवाद